मूत खड़ा खड़ा बहुत गांव गांव है मूत खड़ा जो है हाँ मैं भी देखा मूत खड़ा बहुत है मूत हम्म, खड़ा बहुत है लोगों को मूत खड़ाने में आपको दोनों औषध बताऊंगा होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की मूत खड़ा होता क्यों है पहले तो ये समझ लो हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो तो मूत खड़ा जरूर होगा पानी की मात्रा कम क्यों जब हम पानी कम पिए जरूरत से कम पानी पिए जरूर मूत खड़ा होगा तो जरूरत से कम पानी कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम पांच लीटर पानी तो आवश्यक है चौबीस तास में कम से कम अगर वो पांच से कम पी रहा है तो मूत खड़ा होने की पूरी शक्ति और मूत खड़ा होता क्या है हमारे शरीर में कैल्शियम है कैल्शियम तो कैल्शियम शरीर में हजम नहीं होता तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल के इकट्ठा होता है वही मूत खड़ा हो जाता है बांगे का भी तो नहीं लेकिन मिर्ची के भी पे तो होता है क्योंकि मिर्ची का भी आपने खाया तो संडास के रास्ते निकलना ही चाहिए नहीं निकलेगा इकट्ठा हुआ तो मूत खड़े में बदल जाएगा पेरू के भी ऐसा नहीं होता बांगे का भी, भी नहीं पेरू का नहीं सिर्फ मिर्ची का तो आप अगर पानी कम पी रहे मूत खड़ा वाले को कोई भी पथ्य नहीं है एक को छोड़कर कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम है जैसे टमाटर नहीं खाना गाजर नहीं खाना पालक नहीं खाना मेथी भाजी नहीं खाना पालक टमाटर मेथी दूध दूध में कैल्शियम है नहीं पीना तो जिसमें भी कैल्शियम है वो नहीं जब मूत खड़ा ठीक हो जाए तो फिर अब जो है मूत खड़ा है तो उपाय क्या उपाय इसका ये है कि अपने घर में वो दगड़ फूल है दगड़ फूल जिसको हम मसाले में डालते हैं उसका पाउडर बनाना बगैर का पाउडर बनाइए एक चम्मच उबालने का उसमें पानी में डाल के पाउडर बनाइए सूखे उसका फिर उसको एक चम्मच पाउडर एक कप पानी में डालिए पानी को भरपूर उबालिए और इतना उबालिए कि वो उबलते हुए थोड़ा कम हो जाए हाँ और जब खूब उबल गया पानी थोड़ा कम हो जाए एक कप से थोड़ा कम हो गया पानी तो आप उतारिए उसको थोड़ा ठंडा करिए और उस पानी को तीन बार पीना हाँ सवारी दोपहरी संध्या का तीन बार एक ही बार बना के तीन बार ये प्रिवेंटिव नहीं है प्रिवेंटिव पानी है पानी भरपूर पीना मूत खड़ा नहीं होगा पानी का कितना पीने का नियम है आपका वजन जितना है उसका दस पट कम पानी जरूर पीना एक एक दिन में अगर वजन सत्तर किलो है तो सात लीटर पानी साठ किलो है तो छह लीटर पानी पचास किलो है तो पांच लीटर पानी वजन के प्रमाण से पानी पीने का है वजन का प्रमाण उंच के हिसाब से उंच आपकी जितनी है उसका दस पट जास्ती वजन और उसमें प्लस माइनस दस छप्पन किलो तक चलेगा छप्पन इंच है पांच फिट तो पचास किलो वजन अब दस किलो प्लस माइनस हो सकता है चालीस किलो से साठ किलो तक चलेगा पांच फिट हाँ उसमें दस का गुणा कर दो दस किलो तो छिहत्तर किलो तक चलेगा और इधर छप्पन किलो तक चलेगा छप्पन के नीचे गया तो बहुत कम होगा छिहत्तर के ऊपर गया तो बहुत तकलीफ का और पानी का भी वही है आपका वजन दस पट कम पानी ठीक है अगर आप इस हिसाब से पानी पी रहे हैं जरा सुनिए इस बात को गंभीरता से वजन के हिसाब से पानी पी रहे हैं तो कभी मूल व्याप नहीं होगा कभी बवासीर नहीं होगा कभी भगंदर नहीं होगा कभी आपको फिशर नहीं होगा फिश चूल्हा नहीं होगा कभी मूत खड़ा नहीं होगा कभी मेद नहीं बढ़ेगा मोटापा नहीं बढ़ेगा कभी हृदय घात नहीं होगा कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा वजन के हिसाब से पानी और जो वजन के हिसाब से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम पांच लीटर पानी जरूर रोज हर रोज कम से कम अब सवेरे अगर तीन गिलास पी लिया तो एक लीटर तो वही हो गया और दोपहर को भोजन के बाद एक डेढ़ लीटर फिर शाम को भोजन के बाद एक डेढ़ लीटर और बीच में एक लीटर तो पांच लीटर हो जाता आराम और आप इसकी चिंता कभी मत करना कि लगवी बार बार जाना पड़ता है जाइए लगवी आ रही है बार बार तो समझ लो अंदर की सफाई हो रही है कचरा सब उसी से निकलता था ठीक है